और हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा था कि क्या तुम खुली आंखों देखते हुए भी बेहयाई का ये काम करते हो